नोशो टॉक कैवल्य उपनिषद नंबर टेन थोड़े से शब्दों को पहले समझ लें मनुष्य माया के वसीभूत होकर शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है और सब तरह के कर्मों को करता है माया के वसीभूत होकर शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है माया शब्द को सबसे पहले हम समझ लें साधारणतः लोग समझते हैं माया उसे कहते हैं जो नहीं है इसलिए अंग्रेजी में उसका अनुवाद लोग इल्यूजन करते हैं वो अनुवाद गलत है माया का अर्थ भ्रम नहीं है माया का अर्थ सम्मोहन है हिप्नोसिस माया का अर्थ है मनुष्य के मन की ऐसी क्षमता है कि वो जो भी मान ले वैसा ही उसके मन के समक्ष होना शुरू हो जाता है उसकी मान्यता ही यथार्थ बन जाती है वो जैसा स्वीकार कर ले जैसा अंगीकार कर ले वैसा ही घटित होना शुरू हो जाता है माया मनुष्य के मन की एक क्षमता है और इसी का बड़ा विस्तार पूरे जगत में दिखाई पड़ता है सारे मनुष्य मिल, मिलकर सारे जगत में जो सम्मोहन की अवस्था पैदा करते हैं वो पूरे जगत की माया बन जाती जैसे एक आदमी पागल हो तो एक आदमी पागल है अगर पूरा समूह पागल हो जाए तो वो समूह जो पैदा करेगा वो पूर, पूरे ही जगत को पागल कर देगा माया मन की सम्मोहित होने की क्षमता का नाम है सम्मोहन का अर्थ है कि हम जैसा मानते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है थोड़े से ख्याल लेंगे तो समझ में आ जाएगा अगर आपने किसी हिप्नोटिस्ट को किसी सम्मोहन करने वाले को सम्मोहनविद को देखा हो किसी मैक्सकोली को या किसी और को न देखा हो तो भी कोई बात नहीं छोटा सा प्रयोग कहीं भी करके देख ले सकते हैं खुद भी यहां इतने लोग बैठे हैं अगर हम सारे लोग अपनी मुट्ठियां बंद कर लें और एक पांच मिनट तक सोचते रहें कि ये मुट्ठियां अब खुल ना सकेंगी ये मुट्ठियां खुल ना सकेंगी ऐसा पांच मिनट सोचते रहें फिर पांच मिनट के बाद मैं आपसे कहूं कि आप खोलिए मुठ्ठियां आप पूरी ताकत लगा के तो कम से कम 30 प्रतिशत लोग मुठ्ठियां नहीं खोल पाएंगे और जितनी कोशिश करेंगे उतना ही पाएंगे कि मुट्ठी खोलना असंभव अपनी ही मुट्ठी यही 30 प्रतिशत लोग मुट्ठी नहीं खोल पाएंगे इससे ज्यादा भी संभव हो सकता है मगर 30 का तो होगा ही और जितनी आप कोशिश करेंगे खोलने की उतनी ही पाएंगे कि आपके वश के बाहर हुआ जा रहा है मुट्ठी और बनती जा रही अब मजा यह कि मुट्ठी आपकी है और सदा खोलते रहे और आज क्या हो गए वो जो पांच मिनट आपने भाव किया कि अब मुट्ठी नहीं खुल पाएगी वो सम्मोहन की क्षमता का उपयोग है मुट्ठी बन गई अगर हम एक व्यक्ति को दो दूर कुर्सियां रख दें पांच फीट की दूरी पर एक कुर्सी पर उसका सिर रखें दूसरी कुर्सी पर उसके थोड़े से पैर आ जाएं और उसको कहें कि लेट जाओ तो फौरन नीचे गिर जाएगा क्योंकि कमर झुक जाएगी कमर के लिए कोई सहारा चाहिए लेकिन इस व्यक्ति को जमीन पर पहले लिटा दें और सम्मोहित कर दें और इसको कहें कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी कमर नहीं झुकेगी फिर पांच सात मिनट के बाद इसको उठा के कुर्सी पर रख दें ये लकड़ी के तख्ते की तरह कुर्सी पर दोनों कुर्सियों पर रख जाएगा न केवल इतना बल्कि अब इसकी कमर पर बीच पे एक आदमी सवार होकर बैठ जाए तो भी इसकी कमर झुकने वाली नहीं क्या हुआ इसको इसके मन की सम्मोहन की क्षमता का प्रयोग हुआ और शरीर इस क्षमता का अनुगमन करता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जीवन की सौ में से नब्बे घटनाएं हमारे सम्मोहन से घटती हैं एक आदमी खांसना शुरू करता है अचानक सबको खांसी आनी शुरू हो जाती है एक आदमी उठ के पेशाब करने चला जाएगा न मालूम कितने लोग उठ के जाने लगेंगे आपको पता नहीं है ये सिर्फ सम्मोहन है ये सिर्फ आपकी क्षमता अपने को सम्मोहित करने की अभी तक आप बैठे थे कोई खांसी ना थी लेकिन एक खांसा कि आपको खांसी का ख्याल आया ख्याल आते से आपके सम्मोहन को पकड़ा सम्मोहन को पकड़ते से आपके गले में खराश शुरू हुई अब आप खांसेंगे अब आप बच नहीं सकते ये सजेशन है ये मंत्र का काम किया पहले आदमी ने खांस के मंत्र का काम किया अब आप इसका अनुगमन करेंगे गांव में महामारी फैल जाती है आप कभी ख्याल किए हैं संक्रामक बीमारी फैल जाती है लोग एकदम बीमार पड़ने लगते हैं लेकिन डॉक्टर और नर्सेज दिन रात उन्हीं मरीजों की सेवा करते रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते अगर बीमारी इंफेक्शस है तो सबसे पहले उनको लग जानी चाहिए सिर्फ सम्मोहन क्योंकि डॉक्टर जानता है मैं डॉक्टर हूं यह सम्मोहन उसको बीमारी के प्रवेश से रोकता है वो दूसरे की सेवा में इस तरह रत है कि बीमारी का मंत्र उस पर काम नहीं कर पाता और बाकी लोग बीमार पड़ते चले जाते हैं मनस्वित कहते हैं कि इसमें बीमारी के कीटाणु जितना काम करते हैं वो गौण है इसमें सम्मोहन की क्षमता जितना काम करती है वो प्रमुख है बीमार होते हैं स्वस्थ होते हैं यहां तक कि मनस्वित कहते हैं कि अगर एक मुल्क में लोग सत्तर साल तक जीते हैं तो मुल्क के मनस में यह सम्मोहन बैठ जाता है कि इससे ज्यादा तो जिया नहीं जा सकता शरीर शास्त्री कहते हैं कि मनुष्य का शरीर कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि इतने जल्दी क्यों मर जाए बहुत जी सकता है लेकिन अगर मुल्क में सत्तर साल की सीमा है लोगों के ख्याल में तो सत्तर साल के करीब करीब पहुंचते आप ही सम्मोहित हो जाते हैं कि अब मरने का वक्त करीब आ रहा अब बूढ़ा होने का वक्त करीब आ रहा अब मरने का वक्त करीब आ रहा गांधी जी को ख्याल था कि वो 125 वर्ष जिएंगे वो जी सकते थे इसमें किसी और शक्ति का प्रयोग नहीं है वो जीवन भर से सोच रहे थे कि 125 वर्ष जीऊंगा ये सम्मोहन काम करता अगर उनकी हत्या न की जाती तो ये सम्मोहन काम करता और अगर इसमें और गहरे उतरे तो गोंड से उनकी हत्या कर सका इसमें भी उनका स्वयं का थोड़ा हाथ स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि हत्या के छह महीने पहले से उन्होंने 125 वर्ष जीने का ख्याल छोड़ दिया था और छह महीने से वो कहने लगे थे अब तो परमात्मा मुझे उठा ले भीतर कहीं मरने का भाव बैठना शुरू हो गया था जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है अगर मैं मरने के भाव को भीतर बिठाना शुरू कर दूं तो इस जीवन में हम संयुक्त हैं कोई मुझे मारने के भाव से संक्रमित हो जाए और हम दोनों के मेल से घटना घटेगी जिम्मेवार अकेला वही होगा जीसस के बाबत कहा जाता है कि उनको सूली चढ़ा दी गई फिर वो पुनरुज्जीवित हो गए ये सिर्फ सम्मोहन की गहन घटना है जीसस को निरंतर ख्याल था कि मुझे मार डालो तो परमात्मा मुझे पुनरुज्जीवित करेगा क्योंकि यहूदी शास्त्रों में कहा हुआ है कि जो पैगंबर होगा जो क्राइस्ट होगा वो मारा जाएगा और पुनरुज्जीवित होगा जीसस को ख्याल था कि वही मैं आदमी हूं जिसका शास्त्रों ने विचार किया है उनके शिष्यों को ख्याल था कि वही आदमी है जीसस इसलिए हिम्मत से वो सूली पर चले गए सूली का उन्हें जरा भी भय नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि मैं पुनरुज्जीवित हो जाऊंगा अगर इसको हम मनस शास्त्र की तरफ से सोचे तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जब उनको सूली दी गई तो वो सिर्फ गहरे बेहोश हो गए लेकिन इस भरोसे से इस आश्वासन से कि मैं पुनरुज्जीवित हो जाऊंगा यह बेहोशी हिप्नोसिस थी यह बेहोशी आत्मसम्मोहन था मर रहा हूं ये उन्होंने स्वीकार कर लिया लेकिन इस स्वीकार के पीछे एक गहरा मंत्र काम कर रहा था कि मैं तीन दिन के बाद पुनरुज्जीवित हो जाऊंगा वो गहरे कोमा में बेहोशी में चले गए ये बेहोशी स्वनिर्मित थी और जब दुश्मनों ने जाना कि वो मर गए हैं तो उनकी लाश को पास के एक गुफा में रख के वो चले गए तीन दिन बाद गुफा खाली पाई गई और जीसस के अनेक शिष्यों ने जीसस को अलग अलग स्थानों पर देखा फिर इसके बाद ईसाइयत के पास जीसस का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि फिर जीसस का क्या हुआ अगर जीसस पुनरुज्जीवित हो गए तो फिर वो कब मरे उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जीसस पुनरुज्जीवित हो गए फिर उन्होंने जेरूसलम छोड़ दिया क्योंकि वहां दोबारा मारे जाने के सिवाय कोई उपाय न था वो हिंदुस्तान चले आए और श्रीनगर के पास एक छोटे से गांव में रहे और वहीं मरे उस छोटे से गांव का नाम आज भी बेथलहम है और उस गांव में आज भी एक कब्र है जो ईसा की कब्र कही जाती ये पुनरुज्जीवन ये मृत्यु गहरे सम्मोहन से घटित हुई वस्तुता ही जीसस मर गए हो तो फिर पुनर्जीवित होने का कोई उपाय नहीं मरे ही नहीं थे एक गहरे सम्मोहन में चले गए थे तीव्र तंद्रा में उतर गए थे जहां श्वास भी खो जाती है हृदय की धड़कन भी बंद हो जाती सम्मोहन की यह भी क्षमता है कि अगर आप चाहें तो अपनी नाड़ी को कम ज्यादा कर सकते हैं बड़ी आसानी से आप थोड़ा नाड़ी पर हाथ रख के गिनती कर लें फिर पांच मिनट सोचते रहें कि नाड़ी की गति बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही और पांच मिनट बाद आप फिर नाड़ी को नाप लें आप पाएंगे नाड़ी की गति बढ़ गई सूत्र आपके हाथ में आ गया अब चाहे आप घटा लें अभ्यास करते करते एक दिन आप इस जगह आ सकते हैं कि नाड़ी बंद हो जाए और आप जीवित हो फिर आप हृदय पे भी प्रयोग कर सकते हैं उसकी धड़कन को घटाने बढ़ाने का प्रयोग करें फिर घटाते घटाते उस जगह ले आए जहां हृदय की धड़कन शून्य हो जाए तो छह महीने में आपके हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी और आप जीवित होंगे शरीर हमारे मन की आज्ञा मानकर ही चल रहा है अभी भी बीमार पड़ता है तो हमारी आज्ञा मान के चलता है स्वस्थ होता है तो हमारी आज्ञा मान के चलता है बूढ़ा होता है तो हमारी आज्ञा मान के चलता है जीता है मरता है तो भी हमारी गहरी स्वीकृति और आज्ञा उसको होती है बूढ़े आदमी मर जाते हैं उसका गहरा कारण यह है कि बूढ़े होते से आदमी मरने की आकांक्षा करने लगा जवान आदमी नहीं मरते हैं उसका मौलिक कारण जवानी नहीं है जवान आदमी मरना नहीं चाहते हैं वो मौलिक कारण ये सारे घटना कम है और मानसिक घटना ज्यादा है सम्मोहन को हिंदू शास्त्रों ने माया कहा है हम जो भी कर रहे हैं जो भी हैं जो भी हमारी चित्त दशा है वो सब हमारा सम्मोह आप सुखी हैं दुखी हैं वो आपका सम्मोह लेकिन आपको पता भी नहीं है इसलिए बदलाहट बड़ी मुश्किल पड़ती है बड़ी मुश्किल पड़ती है बदलाहट अगर आप दुखी हैं और किसी से कहो कि तुम्हारा सम्मोहन है कि तुम दुखी हो तो वो मानने को राजी नहीं होगा क्योंकि बदल नहीं सकता लेकिन सम्मोहन के आप प्रयोग करें तो आप चकित ही हो जाएंगे एक व्यक्ति को सम्मोहित करके लिटा दें फिर उसको प्याज का टुकड़ा दे दें और कह दें ये सेव है वो खाएगा और कहेगा सेव है फिर आप उसके मुंह में मिट्टी डाल दें और कहें कि ये मिठाई है और वो मिठाई की तरह ही भाव पैदा करेगा चेहरे पर स्वाद लेगा आनंदित होगा और कहेगा बहुत मीठा है क्या हो रहा है उसको कुछ भी नहीं हो रहा है उसका मन जो स्वीकार कर रहा है वैसा ही शरीर चलना शुरू कर देता मुसलमान फकीर और भी लोग आग पर कूदते रहे हैं सूफी फकीर आग पर उतर जाते हैं वो सिर्फ सम्मोहन है सिर्फ यह भाव प्रगाढ़ है कि पैर नहीं जल सकते अल्लाह का साथ है फिर पैर नहीं जल सकते इसमें अल्लाह कुछ भी नहीं कर रहा है सिर्फ यह भाव प्रगाढ़ भाव कि पैर नहीं जल सकते तो अंगारा भी पैर पर असर नहीं कर पाता है क्योंकि अंगारे को भी असर करना हो पैर पर तो मन का सहयोग चाहिए मन के सहयोग के बिना वो भी प्रभावी नहीं है तो आंख से आदमी गुजर जाएगा और पैर नहीं चलेंगे और आप सोचते हो बहुत कठिन है तो आप किसी को भी सम्मोहित करके बेहोश कर लें और उसके हाथ में साधारण कंकड़ रख दें और कहें कि ये अंगारा है और हाथ में फफोला आ जाएगा ये मन की क्षमता का नाम माया है इस सूत्र में और इस माया से वसीभूत सारे लोग मिलकर जो जगत निर्माण करते हैं वो बिल्कुल मैजिकल है वो बिल्कुल जादूगिरी है जिस जगत में हम रह रहे हैं वो हमारा जादू है छाती पीट रहे हैं रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं कि ये दुख हो रहा है वो सुख हो रहा है ये तकलीफ हो रही वो तकलीफ हो रही और वो हमारे ही जादू है और हमारे हाथ में उसकी कुंजी है ये सूत्र कहता है मनुष्य माया के वसीभूत होकर शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है शरीर को सब कुछ समझना हमारा सम्मोहन है यह सिर्फ हमारा ख्याल है और यह ख्याल आप किसी भी चीज के साथ जोड़ लें यह ख्याल जुड़ सकता है किसी भी चीज के साथ एक स्त्री है वो आज मर जाए तो आपको कुछ कठिनाई नहीं होगी कल आप उससे विवाह कर लेते हैं विवाह करके आप करते क्या हैं सात चक्कर लगा के आप करते क्या हैं वो सिर्फ सम्मोहन की प्रक्रिया है कि सात चक्कर लगा के धूमधाम मचा के बैंड बाजा बजा के पंडित पुरोहित को बुला के लोगों को इकट्ठा करके आप अपने को सम्मोहित कर रहे हैं कि अब मेरी पत्नी हुई जा रही वो वही स्त्री है कल मरती आपको कोई दुख ना होता आज मरेगी आप छाती पीट के रो रहे बड़ा आश्चर्य सात चक्कर ने ये मंत्र तंत्र ने ये भीड़ भड़के ने बैंड बाजे ने बड़ा चमत्कार किया है कि आप छाती पीट कर रो रहे हैं सिर्फ सम्मोहित किया है इसलिए जो लोग सोचते हैं कि शादी विवाह में इतने क्रियाकांड की जरूरत नहीं है उनको पता नहीं अगर ये क्रियाकांड नहीं होगा तो पत्नी पैदा ही नहीं हो सकती ये क्रियाकांड अनिवार्य है सम्मोहन का हिस्सा है इसलिए जिन मुल्कों ने बुद्धिमानों की बातें मानकर बुद्धिमान कभी कभी बहुत बुद्धिहीनता की बातें कहते हैं उनकी बातें मान के किससे क्या फायदा सात चक्कर लगाने से क्या मतलब बैंड बाजे से क्या मतलब फुलझड़ी फटाके से क्या मतलब है घोड़े पे बैठने से क्या मतलब है दूल्हे के कपड़े पहनने से न पहनने से क्या मतलब है विवाह करना है तो कर लो हाथ मिला लो माला डाल दो विवाह हो गया लेकिन ध्यान रखना वो सारी की सारी प्रक्रिया सम्मोहन की प्रक्रिया थी उस सम्मोहन के प्रभाव में ही तुम पति बनते वो पत्नी बनती तुम्हारे बीच संबंध निर्मित होता है वो तुम्हें अपनी मालूम पड़ती तुम उसे उसके मालूम पड़ते अगर वो सारी क्रिया तुमने छोड़ दी तो एक स्त्री है तुम एक पुरुष हो और तब तलाक अनिवार्य है जिन जिन मुल्कों ने विवाह का क्रियाकांड छोड़ दिया उन मुल्कों को तलाक का क्रियाकांड निर्मित करना पड़ा है यह अनिवार्य है क्योंकि हमें पता नहीं कि, कि मन के काम करने के ढंग क्या है मन के काम करने के ढंग हैं और मन के काम करने के सब ढंग सम्मोहन के ढंग हैं उस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो मन सम्मोहित हो जाएगा अब एक लड़के को गांव में आप दूल्हा बना के घोड़े पर बिठा के निकालते हैं ऐसा जिंदगी मौका उसे दोबारा फिर घोड़े पर बैठ के निकलने का आने वाला नहीं पहली दफा वो अनुभव करता है मैं भी कुछ हूं उसे हम दूल्हा राजा कहते हैं एक क्षण को वो भी राजा हो जाता है और ठीक राजा की शान से घूमता है जिंदगी में यह शिखर उसको फिर कभी नहीं मिलेगा इस अहंकार के क्षण में सम्मोहन बहुत आसान है ध्यान रखना अहंकार शून्य आदमी हो तो सम्मोहित नहीं किया जा सकता ये साधारण आदमी अचानक दूल्हा राजा हो गया है इसका अहंकार मजबूत है ये घोड़े पर सवार है सारा गांव घोड़े के नीचे है ये घोड़े के ऊपर है इसके अहंकार को एक शिखर उपलब्ध हो रहा है इस शिखर के क्षण में जो भी घटना घटेगी ये इस वक्त बहुत डेलीकेट है बहुत नाजुक है इसके भीतर कोई भी चीज प्रवेश कर जाएगी सम्मोहन पकड़ जाएगा फिर दोबारा इस ऊंचाई पर यह कभी नहीं होगा और इसलिए जिस ऊंचाई पर जो सम्मोहन पैदा हुआ था वो जिंदगी भर टिकेगा वो अब छूट नहीं सकता पीछे वो इसके अहंकार का हिस्सा हो गया जिन्होंने ये सारी प्रक्रियाएं खोजी थी वो मन की माया को समझते थे और आज के जो तथाकथित बुद्धिमान आदमी हैं उनको मन की माया का कुछ भी पता नहीं वो निपट मूलतापूर्ण बातें लोगों को समझाते रहते हैं यद्यपि वो तर्क देते हैं लेकिन तर्क थोते हैं और तर्कों के पीछे मनुष्य के मन के विज्ञान का कोई बोध नहीं है और जब वो बातें करते हैं तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं क्या जरूरत है इतना खर्च करने की हम समझाते हैं कि भाई क्या जरूरत इतना खर्च करने की लेकिन वो खर्च अगर न हो तो सम्मोहन पैदा नहीं होगा इसलिए गरीब अपनी हैसियत से भी ज्यादा खर्च कर लेता वो हैसियत से ज्यादा खर्च करने का मौका दोबारा उसको नहीं आएगा हैसियत से ज्यादा खर्च करके वो दिल को नाजुक कर लेता है और अहंकार से भर जाता है उस क्षण उसके भीतर जो प्रवेश कर जाता है वो टिकेगा वो उसकी माया का हिस्सा हो गया अब ये स्त्री नहीं रही पत्नी हो गई अब ये पराई नहीं रही मेरी हो गई ये जो मेरा होना है इसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है और हमारा सारा का सारा जीवन ऐसे ही चलता है ऐसे ही चलता है हम अपने शरीर के संबंध में भी जो धारणा बनाए हुए हैं कि ये मेरा है ये भी सम्मोहन है बचपन से हमें सिखाया जाता है बचपन से हम सीखते हैं अनुभव से भी पता चलता है लेकिन मनस्वित कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कुछ पता नहीं होता है कि ये शरीर उसका है उसे कुछ पता नहीं होता उसे यह भी पता नहीं होता कौन उसकी मां है कौन उसका पिता है कुछ पता नहीं होता ये सब सम्मोहन से वो सीखता है मां उसके ज्यादा निकट होती है दूध पिलाती है उसकी फिक्र करती है धीरे धीरे वो उसका चेहरा पहचानना शुरू कर देता है चेहरा भी वो बाद में पहचानता है स्तन ही पहले पहचानता है इसी कारण पुरुष पूरे जीवन स्त्री के स्तन से मुक्त नहीं हो पाते पूरे जीवन हमारे चित्रकार हों कवि हों लेखक हों बड़े विद्वान हों स्त्री के स्तन से मुक्त नहीं हो पाते क्योंकि वो पहला सम्मोहन है दूसरे के शरीर का इसलिए स्तन की तलाश चलती रहती खोज चलती रहती मूर्ति चित्र हो कविता हो सब जगह स्तन उभर उभर के आता रहता वो पुरुष के मन में पहला सम्मोहन है गहरे बैठ जाता है स्त्री शब्द का उच्चारण करते ही स्तन की छाया निर्मित हो जाती फिर वो चेहरे को बच्चा पहचानना शुरू करता है दूसरों को पहचानना शुरू करता है धीरे धीरे दूसरों के बीच अपने को अलग अनुभव करना शुरू करता है मां का हाथ उसे अलग मालूम पड़ने लगता है अपना हाथ अलग मालूम पड़ने लगता है धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का अलग बोध होना शुरू होता है पशुओं के मनोविज्ञान पर कुछ काम चलते हैं जैसे भेड़ के बाबत हम सबको अंदाज है कि भेड़ भीड़ में चलती है और एक भेड़ एक तरफ चली जाए तो सारी भेड़ें उस तरफ चली जाती हैं भेड़ का नेता एक तरफ जाए तो सारी भेड़ें उस तरफ जाएंगी चाहे वो खड्डा ही क्यों ना हो जान ही खतरे में क्यों ना हो अब तक ऐसा ही समझा जाता था कि भय के कारण ऐसा होता है लेकिन अभी नई खोजें ये कहती हैं कि भेड़ों को अपने शरीर का व्यक्तिगत बोध नहीं उनके पास एक कम्युनल माइंड है एक सामूहिक चित्त है तो वो जो दूसरी भेड़ है वो भेड़ को दूसरी मालूम पड़ती ही नहीं भेड़ एक ग्रुप माइंड में जीती है उनका एक समूह चित्त है इसलिए एक भेड़ वहां जा रही है उसका मतलब है कि मेरा एक हिस्सा वहां जा रहा है तो मैं भी खींचा चला जा रहा हूं व्यक्ति चित्त भेड़ में पैदा नहीं होता चींटियों में भी ठीक समूह चित्त है कलेक्टिव माइंड है और समूह चित्त पैदा हो सकता है सिर्फ सम्मोहन की बात है व्यक्ति चित्त पैदा हो सकता है वो भी सम्मोहन की बात है समूह चित्त पैदा हो सकता है वो भी सम्मोहन की बात पूरब के मुल्कों में एक पारिवारिक चित्त था तो परिवार का एक आदमी मर जाए तो परिवार के पूरे आदमी मरने को तैयार हो जाए लेकिन पश्चिम में परिवार चित्त टूट गया पूरब में भी टूट रहा है अगर बाप पिट रहा हो तो भी बेटा पहले ये सोचेगा पश्चिम में कि सही कौन है ये बाप जो पिट रहा है ये ठीक है कि मारने वाला ठीक है जब तक ये साफ ना हो तब तक किसी का पक्षपात लेना ठीक नहीं ऐसे ही ठीक है बात क्योंकि बाप होने से कोई ठीक तो नहीं हो सकता हो सकता है किसी ने कुछ गड़बड़ की हो ठीक पिट रहा हो लेकिन पूरब में यह संभव नहीं था धीरे धीरे यहां भी संभव हो जाएगा परिवार चित्त था तो यह सवाल ही नहीं था कि बाप पिट रहा है मैं पिट रहा हूं एक सामूहिक भाव था दोनों के शरीर कहीं भीतर एक ही सम्मोहन में गुथे थे वो सम्मोहन टूट जाए तो भिन्न स्थिति निर्मित हो जाएगी मेरा शरीर भी मेरा ही सम्मोहन है इसलिए ख्याल करें आप कि आपके शरीर में भी बड़े विभाजन हैं जैसे शरीर के ऊपर का हिस्सा आपका ज्यादा मेरा है शरीर के नीचे का हिस्सा आपका कम कम मेरा है बड़े मजे की बात है एक ही शरीर उसमें नीचे के शरीर को आदमी ऐसा समझता है कि अपना नहीं ऊपर के शरीर को समझता है अपना और सबसे ज्यादा तो खोपड़ी को अपना समझता है बाकी अगर आपका हाथ कट जाए तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं मर गया खोपड़ी तो गए शरीर में भी आपके विभाजन है और विभाजन इतने गहरे हो सकते हैं जैसे कि सारी संस्कृतियों ने जिन्होंने भी काम वासना का दमन करवाया है तो जन्मेंद्री से आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरा हिस्सा है इसलिए उसको छिपाए फिरते हैं घबराए रहते हैं डरे रहते हैं भयभीत रहते हैं ऐसा लगता है कि वो कोई जैसे कोई दुश्मन शरीर के भीतर है अपना नहीं छोटे से बच्चे में हम सम्मोहन पैदा करवाते हैं बच्चा जैसे जन्मेंद्री छूटता है सारा घर रोकने को तत्पर हो जाता है छू मत बच्चे को खुद भी हैरानी होती है क्योंकि उसको बच्चे को भी कोई पता नहीं कि हाथ और जन्मेंद्री में कोई फर्क है लेकिन सारा घर सचेत हो जाता है और सारे घर के मन में निंदा का भाव आ जाता है बच्चा भी भयभीत हो जाता है कि मामला कुछ और है बाकी सब शरीर ठीक है जन्मेंद्री ठीक नहीं फिर यह भाव सघन होता चला जाता है फिर आप अगर अपने से पूछे तो आपको पता बिल्कुल पक्का चल जाएगा कि जन्मेंद्री आपका शरीर का हिस्सा नहीं अभी अमेरिका की एक खिलौनों की कंपनी ने खिलौने बनाया आपने ख्याल नहीं किया होगा कि आपके सब खिलौने झूठे क्योंकि उनमें जन्मेंद्री नहीं होती अगर आपका एक गुड्डा है लड़का है तो उसमें जन्मेंद्री नहीं होती और बाकी सब होता है लड़की है गुड़िया है तो जन्मेंद्री नहीं होती बाकी सब होता है एक कंपनी को सूझा बड़ी सूझ की बात है और मैं समझता हूं पांच छह हजार वर्ष में पहली दफा सूझी किसी खिलौना बनाने वाले को कि यह बात तो झूठ है प्रमाणिक नहीं तो उसने जन्मेंद्रियां बना दी खिलौनों में तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा गया और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अमेरिका की कि जन्मेंद्रियां खिलौनों में नहीं बनाई जा सकती आश्चर्यजनक बात है क्या हमारा दिमाग है क्यों नहीं बनाई जा सकती उस कंपनी ने बहुत लड़ाई की लेकिन नहीं बनाई जा सकती कंपनी का कहना ही यह था कि अगर ये शरीर में है तो फिर खिलौने में क्यों नहीं होनी चाहिए खिलौना प्रमाणिक होना चाहिए लेकिन बड़ी घबराहट फैल गई और ऐसा मालूम पड़ा कि सारे अमेरिका का की बुद्धि इस पर अटक गई बड़े विरोध में पत्र लिखे गए अखबारों में खबरें छपी विवाद चला जगह जगह सिंपोजियम हुए कि यह नहीं हो सकता इससे तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी आदमी में जनिंद्री है और संस्कृति नष्ट नहीं हो रही और खिलौने में जनिंद्री होंगी तो संस्कृतियां नष्ट हो जाएंगी नहीं पर उसका कारण है इस जिद और झगड़े का कारण है और सुप्रीम कोर्ट के बुद्धिमान जजों को भी निर्णय देने के पीछे कारण है कोई जनिंद्री को अपना हिस्सा मानता ही नहीं हमारा बस चले तो हम उन्हें काट डाले जिनका बस चला उन्होंने काट डाली रूस में एक बड़ा संप्रदाय था कैथोलिक ईसाइयों का जिसका नियम यह था कि जब तक कोई जन्मेंद्री ना काट डाले तब तक वो धार्मिक नहीं हो सकता तो जन्मेंद्रियां काट डाली चार पांच हजार साल पहले सारी दुनिया में ऐसे समूह थे जो जनेन्द्रियों को काटने को भरोसा रखते थे मुसलमान आज भी खतना करते हैं यहूदी खतना करते हैं वो सिर्फ उसी का सिंबॉलिक है एक जमाना था पूरी जन्मेन्द्रीय काट के आदमी धार्मिक होता था फिर उतना तो मुश्किल पड़ने लगा लोगों को लोग राजी ना रहे तो थोड़ी सी चमड़ी काट के प्रतीकात्मक रूप से खतने को जारी रखा गया है तो अगर खतना नहीं हुआ तो कोई आदमी मुसलमान नहीं अगर खतना नहीं हुआ तो उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता यह सिर्फ छोटा सा प्रतीक रह गया लेकिन मौलिक आधार यही था पर ये अगर ये हमारे मस्तिष्क में हो तो फिर शरीर में विभाजन हो जाएंगे हमारे शरीर में विभाजन विभाजन इतना गहरा घुस जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं पर हम उतने शरीर से जितने से हमारा तादात्म बना लेते हैं उससे तादात्म बन जाता है और जिससे हम तादात्म छोड़ देते हैं उससे तादात्म छूट जाता है ये जान के आप हैरान होंगे कि आप बालों को काटते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि अधिकतर समाजों ने बाल और नाखून को शरीर का हिस्सा नहीं माना है वो मुर्दे हिस्से लेकिन एक आदमी को सम्मोहित करें और उससे कहें कि बाल भी तुम्हारे शरीर का जीवंत हिस्सा है और अब जब तुम्हारे बाल कभी भी काटे जाएंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी उसे तकलीफ होगी फिर उसके बाल काटिए तो वैसे ही चीखेगा चिल्लाएगा जैसे अंगुली काटी क्या यह संभव है कि मैं अपने हाथ को सम्मोहन के द्वारा मान लू कि मेरा नहीं है और तब आप काटें तो मुझे दर्द ना हो यह संभव है यह संभव है अगर जीसस को तकलीफ न हुई सूली पे चढ़ते वक्त तो उसका कारण इस बात की प्रतीति थी कि यह शरीर में नहीं हूं अगर मंसूर के हाथ पर काटे गए और वह हंसता रहा तो उसका कुल कारण इतना था कि उसको प्रतीति थी कि यह शरीर में नहीं हूं अगर यह प्रतीत हो कि यह शरीर में हूं तो दुख होगा पीड़ा होगी तो पीड़ा और दुख या सुख हमारी प्रतीतियां हैं हमारे सम्मोहन है इसे थोड़ा प्रयोग करके देखें आपके पैर में तकलीफ हो रही हो तब आप बैठ के ध्यान करें कि पैर मेरा नहीं है और आप पाएंगे कि तकलीफ की मात्रा एकदम छीन हो गई एकदम से पूरी समाप्त नहीं होगी क्योंकि आप पूरा सम्मोहन नहीं कर पाएंगे लेकिन जितना कर पाएंगे उसी मात्रा में पैर की पीड़ा कम हो जाएगी और इससे उल्टा भी करके देखें दूसरे के पैर में तकलीफ हो रही हो और आप ये सम्मोहन करें कि वो भी शरीर मेरा है वो भी पैर मेरा है तकलीफ शुरू हो जाएगी ये तकलीफ इतनी बढ़ सकती है कि फोड़ा आपके पैर पर भी प्रकट हो जाए अभी इस पर काफी खोजबीन चलती है कि जब बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो उसकी मां को भी तकलीफ पैदा हो जाती दूर रखो तो भी असल में बच्चे से इतना गहरा सम्मोहन है कि वो कितने ही दूर पीड़ा में पड़े तो वो मां का ही फैला हुआ हिस्सा है और ये सम्मोहन इतना गहरा है कि इसके दूर संप्रेषण इसकी टेलीपैथिक खबरें मां को मिल जाएंगी जानवरों पर बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं और चूंकि जानवरों के पास और भी सरल मन है इसलिए प्रयोग बहुत आसान होते हैं कुछ खरगोशों पर प्रयोग किए गए रूस में तो खरगोशों की माताओं को समुद्र के नीचे ले जाया गया पनडुब्बियों में हजार दो हजार फीट नीचे और बच्चों को रखा गया किनारे पर और बच्चों को यहां मारा गया और वहां उनकी माताओं की जांच पड़ताल जारी रखेगी जिस क्षण बच्चे मरते हैं उसी दिन मां उसी क्षण मां कब जाती है उदास परेशान हो जाती है और मां को कोई भी खबर नहीं कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है बहुत दूरी लेकिन सम्मोहन संबंध जोड़ देता है सम्मोहन ही संबंध है जिस जिस से आप संबंधित हैं वो आपका सम्मोहन है और सम्मोहन जरा में टूट सकता है आप अपने बेटे के लिए जान दे सकते हैं मर सकते हैं लेकिन आज आपके हाथ में एक चिट्ठी पड़ जाए और पता चले कि ये बेटा आपसे पैदा नहीं हुआ सब सम्मोहन टूट जाएगा आप इस बेटे की जान लेने को तैयार हो जाए और जान ले लें और बड़े प्रसन्न हो और तब पता चले कि चिट्ठी जाली थी तो फिर छाती पीट कर रोएंगे कि ये क्या कर दिया ये सारा का सारा खेल न बेटे से संबंधित है न बाप से संबंधित है ये सारा का सारा खेल सम्मोहन से संबंधित है जहां जहां हम अपने सम्मोहन को फैला देते हैं वहां वहां सुख और दुख का राज्य शुरू हो जाता है मनुष्य माया के वसीभूत होकर शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है और सब तरह के कर्मों को करता है फिर शरीर जो कर्म बताता है वो उसे करने पड़ते हैं फिर वो मालिक नहीं रह जाता फिर शरीर हो जाता है मालिक और आदमी हो जाता है अनुगामी शरीर जो कहता है फिर वो वही करता है जानते हुए भी करता है कि इससे हानि हो रही तो भी करता है जानता है कि ये शराब पी रहा हूं तो जहर पी रहा हूं लेकिन यह जानना काम नहीं आता क्योंकि शरीर कहता है पियो शरीर की रासायनिक पकड़ शराब पर हो जाती जो आदमी शराब पीता है उसके शरीर में रासायनिक फर्क हो जाती और जान के आप हैरान होंगे जो आदमी शराब पीता है उसके शरीर का एक एक सेल धीरे धीरे शराब का आदि हो जाता है एक एक सेल और एक एक सेल वक्त में मांगता है कि शराब दो इसलिए शराबी जब छोड़ देता है तो तड़फड़ाता है परेशान होता है दिक्कत में पड़ता है और सब संकल्प धरा रह जाता है क्योंकि शरीर कहता है दो नहीं तो मर जाएंगे जीना मुश्किल शरीर के पीछे उसे चलना पड़ता है क्योंकि ये शरीर ही तो मैं हूं ऐसी तो गहरी प्रतीति बैठी फिर शरीर जो भी करवाता है वह आदमी करता चला जाता है शरीर क्या क्या करवाता है वो इस सूत्र में कहा है वही मनुष्य विषय वासना और मध्यपान आदि विचित्र भोगों को भोग कर जागृत अवस्था में तृप्त होता है विचित्र भोग का विचित्र कारण से कहा है दो कारण एक तो कि अगर उसी चीज से आपका सम्मोहन छूट जाए तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि जिससे आप तृप्त हो रहे थे उससे तृप्त होना तो दूर उससे विकर्षण जुगुप्सा घृणा पैदा हो जाएगी बुद्ध को ऐसा ही हुआ बुद्ध को उनके पिता ने सारी सुंदरतम स्त्रियां इकट्ठी कर दी यही भूल हो गई नहीं तो बुद्ध सन्यासी ना होते अगर उनको एक भी स्त्री ना मिलती तो शायद एक आध दो जन्म और लग जाते क्योंकि जो नहीं मिलता उसका आकर्षण बना रहता जो मिल जाता है उसका आकर्षण खो जाता है फिर भी अगर और भी सुंदर स्त्रियां होती राज्य में जो बुद्ध को उपलब्ध न होती तो भी वो शायद सोचते कि इन स्त्रियों से सुख न मिला हो उनसे तो मिल सकता है तो दौड़ में लगे रहते लेकिन राज्य में जो भी श्रेष्ठतम सुंदर स्त्रियां थी वो बुद्ध के पिता ने बुद्ध के आसपास इकट्ठी कर दी एक जोशी की सलाह पर जोशी ने कहा कि ये बेटा या तो चक्रवर्ती राजा होगा और या सन्यासी हो जाए तो यहां तक तो उसने ठीक कहा था क्योंकि यहां तक अपने विज्ञान की बात कर रहा था गणित की बुद्ध ने उससे पूछा तो मैं कैसे इसे रोकूं तो जोशी जोशी ने अपनी बुद्धि से कहा होगा उसको स्त्रियों में रस रहा होगा उसने अपनी बुद्धि से कहा उसने कहा कि अच्छी स्त्रियां इसके आसपास रख दो अच्छे महल बना दो सब सुख सुविधा जुटा दो फिर किस लिए संन्यास लेगा आदमी दुखी होता है ये नहीं मिला ये नहीं मिला ये नहीं मिला जोशी गरीब रहा होगा आमतौर से जोशी गरीब होते हैं उसने सोचा होगा कि अगर ये सब चीजें मिल जाएं मुझे तो मैं किस लिए छोड़ूंगा उसे कुछ पता नहीं था ज्योतिष का पता होगा लेकिन मनुष्य की अंतरात्मा का उसे कोई पता नहीं था बुद्ध के बाप ने सारा इंतजाम कर दिया वही सन्यास का कारण बना सब उपलब्ध था सुंदरतम स्त्रियां उपलब्ध थी लेकिन बुद्ध को धीरे धीरे घबराहट होनी शुरू हो गई जब सब उपलब्ध हो तो विरक्ति बहुत आसान हो जाती ऊप पैदा हो जाती बोर्डम पकड़ लेती सुंदरतम चेहरे भी कितनी देर तक सुंदर रह सकते हैं जब तक न मिले तभी तक सुंदर चेहरा मिल जाए फिर क्या करिएगा फिर थोड़े दिन में उसका सौंदर्य खो जाता है अगर इसे हम ठीक से समझें तो सौंदर्य दूरी का फल है इसलिए सुंदर व्यक्ति सदा ही ख्याल में रहता है एक दूरी बनी रहे नहीं तो सौंदर्य खो जाने में देर नहीं लगती एक फासला बना रहे एक जगह रहे जिसको पार ना किया जा सके बुद्ध एक रात उठे नींद नहीं उन्हें आ रही थी वो सोच रहे हैं कि क्या इस सब को पाके कुछ मिल तो नहीं रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा देखा कि जो लड़कियां नाचते हुए उनको सुलाते वक्त उनके चारों तरफ नाच रही थी और जब वे सो गए थे तो वे भी गिर के नीचे सो गई थी तो बुद्ध ने एक दफा उनके चेहरे पर नजर डाली किसी की लार बह रही थी किसी का मुंह खुला था घरघराहट की आवाज आ रही थी किसी की आंख में कीचड़ जम गया था कोई नींद में बड़बड़ा रही थी कपड़े अस्त हो गए थे किसके शरीर से पसीना बह रहा था बहुत घिनौना मालूम पड़ा एक एक के पास जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि ये सब सौंदर्य के पीछे ये सब भी छिपा है बहुत घिनौना मालूम पड़ा वही रात उनके भागने की रात हो गई लेकिन जो भी हम भोगते रहते हैं उस किसी भी भोगी गई चीज को अगर हम बहुत गौर से देखें बहुत निकट से देखें तो घबराहट पैदा होगी ऊप पैदा होगी भागने का मन होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं तो विचित्र कहने का एक तो कारण यह है ऋषि कह रहा है कि बड़ी विचित्र बात है कि जिन चीजों में कुछ भी नहीं है भीतर उनको भी आदमी भोग के और तृप्ति भी अनुभव करता है भोगता भी है और तृप्ति भी अनुभव करता है उसे विचित्र लग रहा है लगेगा जो आदमी भी भोग के प्रति जागेगा उसे हमारा सारा भोग बहुत विचित्र लगेगा उसे ठीक वैसे ही लगेगा जैसे आपके घर का बच्चा खिलौने से खेल रहा है खिलौने की टांग टूट गई तो रो रहा है खिलौना उसके बिस्तर पर नहीं है तो उसे नींद नहीं आ रही आपको बहुत विचित्र लगता है कि बिल्कुल पागल है खिलौने से क्या लेना देना क्या मतलब है लेकिन आप बच्चे नहीं है सिर्फ इसलिए इस ऋषि को विचित्र लगता है क्योंकि ये भी अब आप जैसा बच्चा नहीं ऊपर उठ गया एक और प्रौढ़ता आ गई अब इसको लग रहा है कि लोग कैसा कैसा विचित्र भोग भोग रहे हैं और भोग ही नहीं रहे हैं बड़े तृप्ति भी अनुभव कर रहे हैं इसी माया इसी सम्मोहन के वसीभूत होकर मनुष्य विषय वासना और मध्यपान आदि विचित्र भोगों को भोग कर जागृत अवस्था में तृप्त होता है आदमी की तीन अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति जागा हुआ वो तृप्त होता रहता है कहीं बड़ा मकान बना लेता है कहीं किसी के प्रेम में पड़ जाता है कहीं शरीर की कोई तृप्ति कर लेता है कहीं भोजन कर लेता है कहीं अच्छे वस्त्र पहन लेता है और तृप्त मालूम पड़ता है लगता है कि सब ठीक चल रहा है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है आप कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें और कितने ही हीरे जवारात शरीर पर लाद लें क्या होगा क्या उसका अर्थ है आपका पूरा शरीर हीरे जवारातों से लाद दिया जाए तो भी क्या होगा इससे क्या मिलेगा विचित्र विचित्र है बात लेकिन आदमी तृप्त मालूम पड़ता है एक आदमी तिजोड़ी भरता जाता है तिजोड़ी में राशि बढ़ती चली जाती है और बड़ा तृप्त होता है रोज गिनती करता रहता है तृप्त होता रहता है क्या होगा इससे क्या मिलेगा एक आदमी बड़े पद पर बैठ जाता है और सोचता है सब कुछ मिल गया और जिंदगी उस पर दांव में लगा देता है सब दांव पर लगा देता है बस बड़े पद पर होने की दौड़ में हो जाता है एक दिन हो जाता है लेकिन क्या होगा जीवन का कौन सा रहस्य हाथ में आ जाएगा जीवन की कौन सी शाश्वतता मिलेगी क्या जीवन मृत्यु के पार चला जाएगा क्या सुख और दुख के ऊपर उठ जाएगा क्या शांति अनुभव होगी क्या अमृत का दर्शन होगा क्या होगा इस सब से लेकिन आदमी विचित्र है वो भोगे चला जाता है वो भागे चला जाता है फुर्सत ही नहीं मिलती उसे सोचने की एक भोग चुकता नहीं दूसरा भोग खींचने लगता है एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी जग जाती इच्छाएं दौड़ाए रखती हैं और जागृत में पूरे समय हम करते क्या हैं सुबह से लेकर सांझ तक जब तक हम जागे हुए हैं हम कर क्या रहे हम सब इन्हीं इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं और हम कभी ये भी नहीं देखते कि ये इच्छाएं जिनकी पूरी हो गई हैं उनको क्या मिला है और जो लोग इन बातों को पा गए हैं जिनको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वे सुखी है क्या वे आनंदित है नहीं उनका दुख भी इतना ही है और वे भी किसी और आगे की चीज के लिए दौड़े चले जा रहे हैं और हर आदमी में चाहे वो कहीं भी हो और उसकी इच्छा में बराबर फासला है अगर आपके पास हजार रुपए हैं तो दस हजार की इच्छा है दस हजार है तो लाख की इच्छा है लेकिन आप में और आपकी इच्छा में फासला सदा बराबर है वो फासला कभी कम होता ही नहीं एक रुपया हो तो दस की इच्छा होती है दस हो तो सौ की हो जाती सौ हो तो हजार की हो जाती हजार हो दस हजार की हो जाती वो उतना ही गणित फैलता चला जाता है विचित्र है आदमी जब एक था तब सोचता था दस मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा जब दस मिल जाते हैं तो बिल्कुल भूल जाता है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ और मैंने सोचा था कि जब एक था तो दस मिलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा कुछ भी ठीक नहीं हुआ इस बात ही भूल जाता है अब वो सोचता है सौ मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा वही गणित फिर सौ भी मिल जाएंगे और वो पाएगा कि अब हजार से बिना काम नहीं चलने वाला लेकिन वो कभी लौट कर नहीं देखेगा कि ये तो मैंने पहले भी सोचा था कि दस मिलेंगे तो सब ठीक होगा सौ मिलेंगे तो सब ठीक होगा वो मिल गए हैं अब मुझे हजार भी मिल जाएंगे तो ठीक होगा नहीं ये सोचेगा ही नहीं वही मन जो एक पे खड़े होकर दस मांगता था हजार पे खड़े होकर दस हजार मांगता रहेगा वही मन ठीक वही अनुपात कहीं कोई अंतर नहीं और आदमी चलता चला जाए इसलिए ऋषि कहता है विचित्र भोगों को आदमी जागृत में भोगता है ये तो विचित्रता है ही लेकिन और भी विचित्रता यह है कि तृप्त बिल्कुल नहीं होता और फिर भी तृप्त अनुभव करता है ये और भी बड़ी विचित्रता है किसी से भी पूछो कोई तृप्त नहीं है और फिर भी ऐसा चेहरा लेके घूमता रहता है जैसे सब ठीक है किसी से पूछो कैसे हैं कहता है सब ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं और कभी नहीं सोचता कि जो मैं कह रहा हूं ये क्या कह रहा हूं क्या ठीक है कुछ भी ठीक नहीं लेकिन झूठा चेहरा लगा के आदमी घूमता रहता शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते रहते ऐसे भाव से जैसे उन्होंने पा लिया हो पिता पुत्रों को समझाते रहते ऐसे भाव से जैसे उन्होंने पा लिया बूढ़े नई पीढ़ी को समझाते रहते हैं ऐसे भाव से जैसे उन्होंने पा लिया जैसे वो तृप्त हो गए कोई ये नहीं कहता कि मैं तृप्त नहीं हुआ क्योंकि उससे अहंकार को चोट लगती उससे ऐसा लगता है कि जिंदगी भर दौड़े इतना दौड़े इतना परेशान हुए और अब ये भी कहें कि तृप्त भी नहीं हुए तो फिर निपट मूल है तो भीतर तो जानते रहते हैं कि तृप्त नहीं हुए लेकिन बाहर ऐसा भाव प्रकट करते रहते हैं कि सब ठीक है ये सब ठीक एक बड़ा गहन धोखा है अगर ये सारी पृथ्वी के लोग एक बार भी एक स्वर से ईमानदारी से प्रमाणिकता से कह दें कि हम तृप्त नहीं हुए हैं तो इस जमीन के सारे धोखे टूट जाएं क्योंकि इस धोखे के पीछे फिर बहुत धोखे खड़े करने पड़ते किसी से जाके पूछिए ईश्वर है तो वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे पता नहीं या तो कहेगा है या कहेगा नहीं दोनों हालत में पता तो है ही ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो कहे कि नहीं मुझे पता नहीं मुझे कोई पता नहीं क्योंकि यह कहना तो फिर भीतर की अतृप्ति को प्रकट कर देगा और यह कहना तो फिर भीतर के अहंकार को तोड़ देगा किसी भी आदमी से पूछिए तो ऐसा लगता है कि वो जो कहता है बताता है चेहरे से वैसी वास्तविक स्थिति नहीं है निकट आइए करीब आइए दो चार दिन में वो अपने दुख का रोना शुरू कर देगा दो चार दिन भी बहुत दूर है सफर में किसी के साथ दो तीन घंटे भी रह जाइए तो अपना दुख रोना शुरू कर देगा वैसे पहले जब मिला था तो उसका चेहरा और था फिर धीरे धीरे चेहरे की खुशी वो जो धोखा था जो पलस्तर था वो हट जाएगा और फिर उदासी दुख पीड़ा के सब भाव प्रकट होने शुरू हो जाएंगे इसलिए अजनबी आदमी से मिलने में सुख मिलता है सुख का कुल कारण इतना है कि दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को धोखा देने में सफल रहते परिचित आदमियों से बिल्कुल सुख नहीं मिलता क्योंकि वो सब उपद्रव प्रकट कर देते हैं आके और तुम भी प्रकट वो भी प्रकट कर देते हैं तो दोहरा दुख हो जाता है उल्टा अपरिचित आदमी से मिलने में थोड़ी देर तो कम से कम चेहरे बने रहते हैं और सुख मिलता है इसलिए अपरिचित आदमी अच्छे लगते हैं परिचित आदमी धीरे धीरे बुरे लगने लगते हैं क्योंकि उनके आते से वो सब गमगीनी सब उदासी फिर उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं रहती कि सब अच्छा है वो आते से अपना ब्यौरा शुरू कर देते हैं कि क्या क्या बुरा है ये जो जागृत में हम भोगते हैं वो तो विचित्र भोग हैं ही हम तृप्त होने का धोखा भी अपने को पैदा करते रहते हैं वो भी आश्चर्यजनक है और ये धोखा इतने आयामों में फैल जाता है जिसका हिसाब नहीं बच्चे से पूछो बच्चा सुखी नहीं लेकिन बूढ़े से पूछो तो वो कहता जब मैं बच्चा था तो बहुत सुखी था एक बच्चा नहीं कहता कि मैं सुखी हूं यही बच्चे सब कल बूढ़े होकर कहना शुरू करेंगे कि जब मैं बच्चा था तो बहुत सुखी था बचपन में बड़ा आनंद था यह धोखा है ये बूढ़ा अपने को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भला आज ना हो सुख लेकिन बचपन में तो था सब बच्चे जल्दी बड़े होना चाहते हैं क्योंकि बचपन सुखद नहीं है बच्चों से पूछो बूढ़ों से मत पूछना क्योंकि बूढ़े धोखा देंगे वो अपने को भी धोखा दे लिए कि बचपन बड़ा सुखद था असल में आदमी के मन का एक नियम है जो जो दुखद होता है आदमी उसका स्मरण छोड़ देता है क्योंकि उससे अहंकार को चोट लगती है जो जो सुखद होता है उसको बचाता चला जाता है तो दुख की स्मृतियां छूट जाती मनोवैज्ञानिक एक बहुत अजीब निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो ये कहते हैं खासकर फ्राइड ये कहता है और उसकी बात ठीक मालूम पड़ती है कि किसी भी आदमी को अगर हम पूछें कि तुम्हें आखिरी स्मरण कब का आता है तो पांच साल चार साल मुश्किल से आदमी पीछे लौट सकता है कह सकता है कि जब मैं चार साल का था तब का मुझे आखिरी स्मरण लेकिन चार साल भी तो वो था उसका कोई स्मरण क्यों नहीं फ्राइड का कहना है कि बचपन के तीन चार साल इतने दुखद हैं कि मन उनकी याद रखता ही नहीं उनकी याद ही नहीं रखता उनको भूल ही जाता है बिल्कुल पहुंच ही डालता उनकी जगह ही नहीं रह जाती चित्त में कोई इसलिए हमारी पांच साल की स्मृति तो बिल्कुल कोरी रहती लेकिन कोरी नहीं है अगर आपको सम्मोहित करके बेहोश किया जाए तो आप बताना शुरू कर देते हैं यहां तक हैरानी होती है कि बच्चे को अपनी मां के पेट में भी जो घटनाएं घटती उनका भी स्मरण है अगर मां गिर पड़ी है और बच्चा गर्भ में है तो उसको स्मरण में आ जाता है अगर मां बीमार है तो बच्चा भी दुखी होता है भीतर स्मरण बन जाता है लेकिन सम्मोहित करें तो ही स्मरण प्रकट होते हैं नहीं तो ऐसे बंद है आपको कोई याद नहीं आप कहते हैं पांच साल के पहले का मुझे कुछ याद नहीं इसका कारण यह है कि वो सब स्मरण ट्रामेटिक है मनोवैज्ञानिक कहते हैं बहुत दुखद है बहुत पीड़ादायी है क्योंकि बच्चा इतना असहाय था इतना परेशान था हर चीज के लिए मोहताज था दीन था दूध भी उसे मांगना है तो रोए चिल्लाए कोई दे दे तो ठीक कोई ना दे तो ठीक उसे अभी दूध और पीना है और मां अलग हट जाए तो उसके पास कोई उपाय नहीं था उसको मच्छर काट रहे हैं वो कुछ कह नहीं सकता वो पड़ा है उसको नींद नहीं आ रही तो उसे जबरदस्ती सुलाया जा रहा है वो जगना चाहता है तो उसे जबरदस्ती नहीं जगना चाहता तो जबरदस्ती जगाया जा रहा है नहीं खाना चाहता तो खिलाया जा रहा है खाना चाहता है तो कोई देने को तैयार नहीं है उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय और भारी कष्ट की थी उसको बिल्कुल भूल गया है क्योंकि वो उसके अहंकार को सुखद नहीं है हम धीरे धीरे जो दुखद है उसको अलग करते जाते हैं जो सुखद है उसको बचाते चले जाते हैं ना केवल बचाते हैं फिर सुखद को हम मैग्निफाई करते हैं उसको बड़ा करते हैं जरा सा रहा हो तो उसको हजार गुना करते हैं फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि बचपन तो स्वर्ग था कोई बच्चे ने कभी नहीं कहा कोई बच्चा कभी कहेगा नहीं लेकिन बूढ़ा कहता है क्यों क्योंकि हम तृप्ति को अगर यहां नहीं मिल रही तो कहीं और हटा देना चाहते हैं बचपन में मिलती थी जवानी में मिलती थी कहीं हटा देना चाहते लेकिन तृप्ति कहीं मिलती थी इस भ्रम से हम नहीं छूटना चाहते क्योंकि ये अगर भ्रम छूट जाए तो आदमी के जीवन में क्रांति घटित हो जाती तृप्ति मुझे मिली ही नहीं ऐसा जो आदमी जान लेगा वही धार्मिक हो सकता है तृप्ति मैंने जानी ही नहीं सब तृप्तियां मेरे ही धोखे थी मैंने मानी थी कभी मैंने कोई तृप्ति जानी नहीं कोई ऐसा क्षण नहीं आया जिसे मैं तृप्ति का क्षण कहूं ऐसा जो आदमी जान लेगा ये बड़ा दुखद है जानना क्योंकि इससे लगेगा था हम बिल्कुल भिखारी तो हमने जीवन यू ही कमाया अहंकार बिखरेगा लेकिन उसके बिना बिखरे कोई धार्मिक होता नहीं जागृत के लिए ऋषि ने कहा कि विचित्र भोगों को भोगकर और मानता है कि तृप्त हो रहा हूं लेकिन यहीं तक पूरा नहीं होता आदमी का मन सपने में भी भोग जारी रखता है और मजा तो यह है कि कम से कम चाहे हम पहली बात से राजी ना भी हो सकें कि जागृत में जो भोग मिलते हैं वे वास्तविक नहीं है लेकिन इतना तो हम भी मानेंगे कि स्वप्न में जो भोग मिलते हैं वे वास्तविक नहीं है लेकिन जब वे मिलते हैं तब हम उनको बड़े मजे से भोगते बड़े मजे से भोगते सपने का आपको ख्याल है जो जो आप नहीं भोग पाते जागने में वो वो सपने में भोगते बड़े महल में नहीं रह पाते तो बड़ा महल बना लेते हैं सपने और सपने में दिक्कत नहीं आती महल बनाने के लिए ना कोई धन की जरूरत पड़ती ना कुछ क्योंकि आपका जो मन है सपने में अपनी माया का पूरा प्रयोग कर पाता है क्योंकि यथार्थ कोई बाधा नहीं डालता समझ लें आप जागने में भी माया का प्रयोग करते हैं लेकिन यथार्थ बाधा डालता है आप तो मानना चाहते हैं कि चारों तरफ सोना है लेकिन चारों तरफ पत्थर पड़े वो बाधा डालते वो बाधा डालते हैं वो कहते हैं कैसे मानोगे आपका मन तो मानने का होता है जिस आदमी को हम पागल कहते हैं असल में वो वो आदमी है जिसने यथार्थ को इतना इंकार कर दिया कि अब वो जागने में भी अपनी माया का पूरा प्रयोग कर रहा है पागल का और कोई मतलब नहीं है पागल का मतलब इतना ही है कि जैसा हम सपने में करते हैं वैसा वो जागने में भी करने में समर्थ हो गया है अगर उसे अपने मित्र से मिलना है तो कहीं मित्र के पास जाने की जरूरत नहीं वो यहीं बैठे हुए शून्य में उससे बातचीत करता रहेगा हम कहते हैं आदमी पागल हो गया पागल नहीं हो गया ये आदमी अपनी माया की शक्ति का पूरा प्रयोग कर रहा है आप थोड़ा कम कर रहे हैं आप भी मित्र से बातचीत करते हैं लेकिन ऐसा नहीं मानते कि वो सामने मौजूद है आंख बंद करके भीतर उसको देखते हैं फिर उससे बातचीत करते आंख बंद करके जरा कुर्सी पर लेट जाइए और आपको पता चल जाएगा आपकी माया ने काम शुरू कर दिए बातें शुरू हो गई चर्चा शुरू हो गई और ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी हम बाहर तक नहीं आ जाते कभी किसी आदमी को रास्ते से चलते हुए देखें कहीं वो हाथ हिला रहा है कुछ इशारा कर रहा है ओठ हिल रहे हैं कुछ बोल रहा है किसी से बातचीत कर रहा है जो वहां मौजूद नहीं तो हम में और पागल में मात्राओं का ही फर्क है हम सपने में बिल्कुल पागल होते हैं दिन में जरा संभाल के चलते हैं पागल जरा ज्यादा हिम्मतवर है वो अपने सपने को जागने तक फैला देता है और इसलिए पागल बड़ा सुखी मालूम पड़ता है अब ये इसको ठीक से समझ लें पागल बड़ा सुखी मालूम पड़ता है क्योंकि अब सुख बिल्कुल उसकी सम्मोहन की बात है मैं ऐसे मित्रों को जानता हूं जो पीरियडिकली पागल होते हैं कभी छह महीने के लिए पागल हो जाते हैं छह महीने की ठीक हो जाते हैं ये बड़े मजे की बात है कि जब वो पागल होते हैं तब बिल्कुल स्वस्थ होते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं और जब ठीक होते हैं तब बीमार पड़ जाते हैं और बड़े दुखी हो जाते हैं क्या मामला है क्या मामला है असल में जब वो पागल होते हैं तब यथार्थ को इतना इंकार कर देते हैं कि यथार्थ उनके लिए बाधा डाल ही नहीं सकता कल वृक्ष के नीचे हो जाते जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाती दुनिया उसको रोक नहीं सकती क्योंकि अब वो सपने से ही पूरा कर लेते अब उन्हें वास्तविक पूर्ति की कोई जरूरत नहीं सुखी हो जाते अगर ठीक से समझें तो इस तथाकथित जगत में जो लोग सुखी दिखाई पड़ते हैं वो पागलपन की वजह से ही इसको अगर ठीक से समझें तो इसका मतलब यह हुआ इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस तथाकथित विचित्र भोगों को भोगते हुए जो लोग सुखी दिखाई पड़ते हैं वो उनकी पागलपन की मात्रा के कारण है बुद्धिमान आदमी तो यहां एकदम उदास हो जाए क्योंकि बुद्धिमान आदमी को तत्क्षण दिखाई पड़ जाएगा कि ये निपट गंवारी है मूढ़ता है ये जो हो रहा है इसमें कुछ है नहीं लेकिन पागल दौड़े चला जाएगा कभी आपने देखा किसी राजनीतिक को जब वो सिंहासन पर पहुंच जाता है तो कैसा खुश मालूम होता है वो पागलपन के शिखर पर खड़ा है लेकिन उसकी उसका सुख तो है उसका सुख तो है सुखी तो दिखाई पड़ता है गहन अध्ययनों से पता चला है कि राजनीतिक जब तक शक्ति में होते हैं तब तक न बीमार पड़ते न मरते बड़े ताजे और स्वस्थ होते जैसी शक्ति से उतरते हैं वैसी जल्दी मर जाते बीमार पड़ जाते राजनीतिक तो सभी लोग नहीं होते लेकिन दूसरी तरह से समझ लें रिटायर्ड आदमी जल्दी मर जाता और उदास हो जाता और दुखी हो जाता समझ लें कि एक तहसीलदार है तो गांव में वो राजा है सारा गांव नमस्कार करता है दफ्तर में आता लोग खड़े होते घर में पहुंचता पत्नी भी मानती बच्चे भी मानते हैं तहसीलदार सारा गांव मानता है उसकी दुनिया पूरी उसे मानती है जहां मूव कर जाए जहां चल जाए वहीं सब जाहिर हो जाता कौन आ रहा है फिर वो रिटायर्ड हो गया फिर उसी रास्ते से निकलता कोई नमस्कार नहीं करता बल्कि जिन जिन ने नमस्कार किया था वो बच के निकलते हैं कि अभी इसको कहीं नमस्कार न करना पड़े कोई मतलब का भी नहीं बेकार आदमी हो चली हुई कारतूस इसका क्या करना करना है घर में आता है तो बच्चे भी उसकी तरफ देखते नहीं पत्नी भी उसकी फिक्र नहीं पड़ती अब तहसीलदार तो रहे नहीं क्रीज तो निकल गई कपड़ा बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे रात भर कोई आदमी सोया रहा हो पहन के अब उसकी कौन फिक्र करता है कौन उसकी तरफ देखता है वो एकदम उदास हो जाता है उसे पता चलता है कोई मानने वाला नहीं रहा भीतर टूटना शुरू हो जाता है सम्मोहन खंडित होता है मौत करीब आने लगती है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रिटायर्ड होते आदमी की उम्र दस वर्ष कम हो जाती दस वर्ष और जी सकता था लेकिन दस वर्ष कम हो जाती क्योंकि अब उसे कुछ नहीं सूझता कहीं उसकी कोई उपयोगिता नहीं कहीं उसके अहंकार की कोई तृप्ति नहीं कहीं सुख नहीं मिलता वो एकदम उदास हो जाता है इरिटेटेड हो जाता है चिड़चिड़ा हो जाता है उसका भीतरी कारण है कि वो जो सुख ले रहा था सम्मोहन का अब उसको यथार्थ साथ नहीं देता अब उसको यथार्थ साथ नहीं देता लेकिन मैं एक ऐसे तहसीलदार को जानता हूं जो रिटायर होने के साथ ही पागल हो गए मतलब वो अपने को अब भी तहसीलदार मानते और अब भी दफ्तर में तहसीलदार की अकड़ से कभी कभी पहुंच जाते और अब भी वो इसकी फिक्र नहीं करते कि कौन खड़ा है कि नहीं खड़ा है इसकी भी फिक्र नहीं करते कि नमस्कार आपने किया नहीं वो जवाब देते वो बड़े प्रसन्न और लगता है कि वो जिएंगे उनके दस साल कम नहीं हो सकते वो इसकी फिक्र ही नहीं करते वो अपने को तहसीलदार मानते ही है वो रिटायर हुए ही नहीं अपनी तरफ से मैं एक हेडमास्टर को जानता हूं वो अब भी पहुंच जाते हैं स्कूल और अब भी थोड़ी देर हेडमास्टर की कुर्सी पर बैठ के शांति से लौट आते और बड़े आनंदित थे उनको ख्याल में नहीं है वो रिटायर्ड हो गए उनका दिमाग खराब हो गया लेकिन ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ख्याल में आ जाए कि आपके सब सुख आपकी कल्पना से पैदा होते हैं और आपके पागलपन के हिस्से बुद्धिमान आदमी यहां जरा भी सुख नहीं देख पाएगा जहां आप सुख देख रहे हैं मगर बड़ा मजा है बुद्धिमान आदमी हमें पागल मालूम पड़ता है कि इसका दिमाग खराब हो गया कितना मजा आ रहा है सिनेमा में बैठ के हम कितना आनंद ले रहे हैं इसका दिमाग खराब हो गया क्या मजा ले रहे हैं आप वहां वहां पर्दे पर सिवाय छाया और धूप के कुछ भी नहीं लेकिन मैं ऐसे ना समझो को जानता हूं कि अगर कोई स्त्री नाच रही हो और उसका घाघरा ऊपर उठ रहा हो तो कुर्सी से नीचे झुक के देखते और बड़ा सुख पाते बड़ा सुख पाते मैंने सुना है कि पहली दफा लंदन में एक फिल्म आई पहली दफा जब शुरू हुआ फिल्म का सिलसिला तो उस फिल्म में एक नग्न स्त्री एक तालाब पर स्नान कर रही है उसने सब कपड़े उतार के वो तालाब में कूदी है तभी एक ट्रेन झक झक करती हुई निकल जाती और वो तालाब उस तरफ पड़ जाता है तो जिन लोगों ने पहले दिन टिकट खरीदे थे वो उसी दिन दूसरे दिन का टिकट मांगने लगे तो मैनेजर ने कहा तुम तो फिल्म देख चुके तो उनमें से एक आदमी ने कहा बात ऐसी है कि ये ट्रेन इसी वक्त पर रोज थोड़ी आएगी कभी तो लेट होगी वो एन वक्त पे आ गई वो जानकी लाई गई थी ताकि वो नग्न चित्र सीधा नग्न न हो जाए बस कपड़े उतार रही थी सुंदरी और कूदने के करीब थी छपाक की आवाज हुई और ट्रेन गुजर गई तो लोगों ने कहा कि रोज कहीं ट्रेन कहीं रोज एक ही टाइम पे आई किसी दिन तो ये लेट हो ही जाएगी ये आदमी है ये हमारे भीतर छिपा आदमी है इसको दूसरा समझ के मत हंसना नहीं तो आप फिर सम्मोहन कर रहे हैं यह मत समझना कि किसी और की कहानी यह आपकी ही कहानी और अगर आपने समझा कि मैं किसी और के संबंध में कह रहा हूं तो आप अपने को धोखा दे रहे हैं आदमी सपने में भी तृप्ति खोजता है और तृप्त होता रहता है सुबह सपना टूटता है तब थोड़ी पीड़ा होती है लेकिन रात रात तो सपना बड़ा सुख देता रहता है और सपने से भी तृप्ति पाता है आपको पता नहीं है अभी सपने पर काफी खोजबीन चलती है तो यह अनुभव हुआ कि जो लोग सुखद सपने देखते हैं वो सुबह ज्यादा ताजे उठते हैं और जो लोग दुखद सपने देखते हैं वो सुबह बड़े उदास और परेशान उठते हैं सुखद सपना सपना ही नहीं है सुबह आपको ताजगी भी देता है सुबह आप बड़े प्रसन्न उठते हैं जिंदगी में रस मालूम पड़ता है पुलक मालूम पड़ती है ओंठों पर गीत मालूम पड़ता है अगर रात आपने एक सुखद सपना देखा तो सुबह के आपके जागने का गुणधर्म बदल जाता है अगर रात आपने एक दुखद सपना देखा कि काफी आपकी पिटाई हुई है इलेक्शन हार गए हैं या और कोई उपद्रव आपने देखा कोई नाइट देखा तो सुबह आप बिल्कुल बेजान उठते हैं उठने का मन नहीं होता बिस्तर छोड़ने का मन नहीं होता इस पर काफी वैज्ञानिक सोच चलती है और एक वैज्ञानिक लेटर ने तो कहा है कि अगर हम आदमी को स्वस्थ रखना चाहते हो तो हमें सुखद सपने पैदा करने का कोई इंजाम खोजना पड़ेगा क्या यह हो सकता है कि हम सुखद सपने पैदा कर सके अब इस पर काफी काम चलता है सपने पैदा किए जा सकते हैं बाहर से भी एक आदमी सो रहा हो आप जरा उसके पांव के पास गीले पानी का कपड़ा उसके पांव में लगाते रहें थोड़ी देर फिर उसको उठा के पूछें तो वो बताएगा उसने सपना देखा कि वो नदी में से गुजर रहा है ये सपना आपने पैदा करवा दिया जरा उसके पांव के पास स्टोव ले जाए थोड़ी गर्मी दें फिर उसको जगा के पूछें तो वो कहेगा मैंने सपना देखा कि मैं एक रेगिस्तान में चला जा ये आपने सपना पैदा कर दिया अगर इतना हो सकता है तो आज नहीं कल हम उपाय खोज लेंगे कोई यांत्रिक व्यवस्था खोज लेंगे कि हर कमरे में लगा दी जाए और आदमी रात भर सुखद सपने देखता रहे तो सुबह वो ज्यादा ताजा जीवन से भरा हुआ तथाकथित जीवन से भरा हुआ ज्यादा धोखे में डूबा हुआ ज्यादा सम्मोहित दफ्तर की तरफ तेजी से जाता हुआ गुनगुनाता गीत मिलेगा ऋषि कहता है कि माया से कल्पित जीवलोक में वही मनुष्य स्वप्नावस्था में शरीर के सुखों और दुखों को भोगता है वहां भी भोगता रहता है वो उसी पागलपन को जिसको वो जागते में भोगता है हमारा सपना हमारा जागने का ही परिशिष्ट है उसका ही हिस्सा है जो जो अधूरा रह गया उसे हम पूरा कर लेते इतना ही नहीं जब तीसरी अवस्था होती है मन मनुष्य की सुसुप्त जब सपने भी खो जाते कुछ भी नहीं बचता सुसुप्त अवस्था में जब समस्त माया का प्रपंच भी समाप्त हो जाता है चेतना ही खो जाती तमोगुण से पराजित होकर आदमी मूर्छित हो जाता है तब भी वो सुबह उठकर कहता है कि रात बड़ी गहरी नींद आई बड़ा सुख मिला जागने में वो सुख खोजता है सपने में खोजता है और जब कुछ भी नहीं बसता सपना भी नहीं बसता तब भी वो सुबह उठ के कहता है कि खूब गहरी नींद आई बड़ा सुख मिला मगर इन तीनों अवस्थाओं में सुख सम्मोहन है और सुख मनुष्य की कल्पना है हाँ जहां जहां सुख की कल्पना टूटती है वहां वहां दुख पाता है दुख सुख की कल्पना का पूरा न हो पाना है इसलिए जो आदमी सुख की चाह रखता है वो दुख पाता रहता है दुख विफलताएं अपेक्षाओं का पूरा न होना है तो सपने भी दुख दे सकते हैं जागृत भी दुख दे सकता है सिर्फ सुसुप्तावस्था दुख नहीं देती क्योंकि वहां कोई जानने वाला ही शेष नहीं रह जाता सब सो जाता है इसलिए अगर ठीक से समझें तो हम तीनों ही अवस्था में मानकर जी रहे हैं कि जीवन ऐसा ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रक्षेप कर रहे हैं जीवन को निर्मित कर रहे हैं लेकिन जीवन कैसा है उसका हमें कोई भी पता नहीं ऋषि ने ये तीनों अवस्थाओं की सम्मोहन की चर्चा इसलिए की है कि जिसे ध्यान में जाना है उसे इस सम्मोहन को तोड़ना पड़ेगा ध्यान सम्मोहन की विपरीत प्रक्रिया है डी हिप्नोटाइजेशन है as we live, as we are, it is a deep hypnosis. Whatsoever we feel, whatsoever we think, is based on hypnotic projections. In some face, I see beauty. that beauty doesn't belong to the face because someone else may not feel it as beautiful at all it belongs to my projection when i say some face is beautiful i am projecting something from me and the face is just a screen because someone else may see the face as ugly you can project whatsoever you have in your mind on anything. That's why philosophers have been trying to define what beauty is, but they have never been able. It cannot be defined, not because it is something indefinable, but because it is individual projection. It is not something objective which can be defined. It is not objective at all. It is just a subjective feeling. So not only that, someone may think something ugly while you are thinking it beautiful. It may happen that in the morning you thought it was beautiful and in the evening you yourself begin to feel it is ugly. And the thing remains the same, the object remains the same the screen remains the same you go on projecting then the screen changes and the ob object begins to look something else this phenomena of projection is basic to our mind we live not in the objective world but in a projected world in a projected world. Once you begin to understand this, the whole phenomena changes. So there, are, there is not only one world, but there are as many worlds as there are minds. Everyone living in his own individual world, multi worlds, multi universes. You have your own world that belongs to you. It is not something which can be participated by anyone else. Participation is impossible when there is projection, when there is hypnosis. Participation is impossible. We cannot share it. I feel someone is good, you feel he is not. And there is no sharing. I feel someone is a saint. He may be, he may not be, but it is my projection. For example, Krishna is the perfect avatar for Hindus, but for Jains, he is not. He is not even an avatar. For Hindus, he is the peak. All that is beautiful, all that is good, all that is true is personified in him. But for Jains, he is not. They have put him into the seventh hell. Because he was the man responsible for the great Indian war, Mahabharata. Jains think everything by the criterion of violence or non-violence. He was responsible for the whole violence. Rather, Arjuna was going to be a saint. He was just escaping from the war. And this man Krishna persuaded him to fight. So the violence goes directly to Krishna. He becomes responsible. So Jains have put Krishna into the seventh, the lowest hell. It doesn't matter what Krishna is. He is X, the unknown. But what he looks is the projection. So anyone can project anything. It depends on you, your attitude, your mind, your way of thinking. Then you can project. And we are projecting every moment. That's why reality is not known. You can know really reality only when your projecting mechanism stops completely then the objective world appears. Then things begin to look as they are. As they are. Not, not as you feel them. Your feeling says something about you, not about the thing itself. This auto hypnotic process this projection mechanism in the mind is the problem and unless this whole mechanism is stopped you cannot enter meditation because meditation means only one thing a non-projective mind a non-projecting mind a non-hypnotic mind a mind who is not hypnotized by himself, a mind which is absolutely devoid of hypnotic process. We can hypnotize ourselves. And the whole culture, civilization, society, education, everything, politics, the so-called religions, they all use our this weakness they all use for example business uses it what is advertising it is simply going on repeating a particular thing so it becomes hypnotic someone goes on saying that this cigarette is the ultimate in cigarettes goes on repeating you go on listening, you go on reading by every media, but by every possible method, this thought is being put into your mind. This cigarette is the ultimate in cigarettes. Then every other means is used. A naked woman is placed in the poster just by the cigarette, the cigarette's in her hand. Now your sex attraction, sex appeal is being exploited. Now cigarette is being associated with sex. It will become more hypnotic. It will become more hypnotic. Continuous repetition will put the idea as a seed in you. Then you go to the market to the shop and you say, I need a particular cigarette, you think you are choosing it. You are not. You have been just forced to choose it. Your hypnotic mechanism has been used and exploited. But you will think that you are choosing it. You are the chooser, you are not. Whatsoever you are choosing, 99% out of 100, you are not the chooser. You cannot be. Unless the whole mechanism stops, you cannot choose. You are being forced, manipulated to choose something. Preachers go on convincing about Christianity, about Hinduism, about Mohammedanism. They are doing the same. They, they are the businessmen of the market of religion. They go on convincing this will do, this will do, this will do. All else is worthless. They go on putting the idea. That's why every religious sect is very much interested to teach children because they are most innocent and their projecting mechanism is very powerful, alive. So whatsoever you put in them, they will have they will have to run their whole lives accordingly. So every religion, the so-called religions, are very much interested that the children must be taught religiously. Before they are seven, they must be converted. Otherwise, conversion will become impossible. Once they become aware then conversion will be impossible. Before seven, seeds must, must be put in them. Then those seeds will work. They will become their base. So even a Christian child, if he goes against Christianity later on, will be in a subtle way still Christian. Even his going against will be a Christian type. Even his rebellion, reaction will, will have a continuity of all that against which he has rebelled. Now he is in the grip, and it is difficult to come out of it. If you rebel, if you react, again the mechanism will work that's why it is so difficult just to drop christianity or hinduism or mohammedanism you can go against it but you cannot drop it because in going against you are still in it related concerned but if you if you can just drop it without going against without any reaction then you are out of it but that is possible only if you become aware of your own auto hypnotic processes otherwise you can hypnotize yourself to the opposite extreme that is easy and persons go on moving from one extreme to another they go on moving from one extreme to another this happens not only with individuals this happens with societies also this happens with nations also for example, this is happening now. East has hypnotized itself that materialism is useless. Only spiritualism. Only spiritualism is meaningful. This has been the Eastern hypnosis. Now they are bored. Now they are absolutely absolutely going to the other extreme. Now, East is becoming every moment more and more materialist. And really, but their mind continues to talk in terms of spiritualism. But if you go deep down, now Eastern people are the most materialist in the world. They are moving. West tried to hypnotize itself to the other extreme. Materialism became so significant that spiritualism was just a Sunday affair. Not, not significant, not meaningful, just a social thing. Not deep, not individual, not concerned with inner being, but just a social phenomena. Church became just symbolic too much materialism in the west now creates a reaction and the west is moving towards spiritualism to the other extreme sooner or later east will become west and west will become east it is going on the process is there so whenever from the west someone comes in search of spirituality to the East, even the Eastern intelligentsia feels a bit inconvenience, uh, discomfort, unease. The Eastern intelligentsia cannot conceive why you are coming here. Here is nothing. You have everything. Why you are coming here? Because Eastern intelligentsia is going to the West for technology, for science, for everything that that material world can give. They are going westward. And you cannot conceive in the West why these Eastern people are coming to the West to learn what they can learn here. Because in the West, intelligent people, intelligent boys and girls are just dropping out of universities. Just because nothing can be gained there. They are dropping out of universities, they are dropping out of their society, they are creating an alternate society. And people from the East coming there, it becomes inconceivable to them. But it, nothing is inconceivable. This is how opposites work. This is how hypnosis changes itself from one opposite to another. But the other is as dangerous. The real thing is how to go beyond hypnosis. From one hypnosis to another, it is easy. It is the nature, the way of, of things, how they work. But how to go beyond? How to go beyond this hypnotic process? How to dissolve this whole mechanism? This sutra says all our happiness and all our miseries are part of our hypnosis. They are. A person who has no hypnosis in him is beyond both. He is neither happy nor unhappy. He simply is. And that isness is bliss. It is not happiness, it is bliss. Never, never think bliss in terms of happiness. It is not. Happiness is related with unhappiness, not with bliss. And if you desire for happiness, you will create unhappiness. If you desire for bliss, then let happiness and unhappiness both dissolve. But how can they dissolve? Unless your mind is dehypnotized. Meditation means dehypnotization. The process looks just the same. Many people come to me and they say, whatsoever is being done here, is it not hypnosis? It is dehypnosis. The process is the same but the dimension is reverse. You can hypnotize yourself, that is going further from yourself towards the objects. You can dehypnotize yourself, that is going back from the objects towards oneself. When you are centered in some object, you are hypnotized. When you are centered in yourself, you are dehypnotized. When you are yourself, you are beyond hypnosis. When you are not yourself, centered, obsessed, centered, obsessed with something, then you are hypnotized. Look at a man who is hypnotized by a woman, or a woman who is hypnotized by a man. Look at the eyes at the face, at the bodies. They are not in their senses. They cannot be. That's why traditional wisdom says love is blind because it is hypnosis. It is a sort of madness. It is a sort of madness which comes from yourself and then you project. And then something becomes so important and meaningful that you can even give your life for it. Anything. It is not that love happens only between persons. Love happens between person and things also. A person who is in love with wealth is as much hypnotized. He is as mad. A person who is in love with power, he is as mad. He is as mad. He can give his life. At any cost, he must have power. At any cost, he must have the loved object, whatsoever it is. He is centered in the object. This is what I mean by hypnosis. He is centered in the object not in himself. He can lose himself, but not the object. Mullah Nasruddin was robbed once. He was alone on a lonely road. He was caught. And the robber said, There are alternatives. Either you give whatsoever you have, or your life and you can choose. And you can choose. So Mullah said, You can take my life, but as far as my wealth is concerned, that is, I am saving for my old age. and he's right. This is how a hypnotic mind works. He's right. What I will do with my life if there is no wealth? So you can take my life. It has cost me nothing. As far as my wealth is concerned, I have devoted my whole life to it. It has cost me much, and moreover, I am saving it for my old age. Any love objects, any love object becomes obsessive you are not in your senses. That is, you are not conscious. You become unconscious. You begin to move in a deep sleep. That's how we are. Due hypnosis or meditation means how to bring your consciousness, which has become projected, to the objects back home. Our process also looks like hypnosis it is. But dehypnosis, the process is the same. If you have gone far away from your home, you have traveled a path, you have used your legs. Now, if you want to come back, you will have to travel the same road and you will have to use the same legs, only in a reverse order. That will be the only difference we have gone deep in the world we will if we want to come back the same is going to be the process only in a reverse order so hypnosis has to be used in reverse order and every meditation is hypnosis in reverse order every meditation only question is whether you are coming back or going away. If you are coming back, then it is meditation. If you are going away, then it is hypnosis. If something brings you to yourself, it is meditation. If something takes you away from you, then it is hypnosis. Process is the same. This sutra says man lives in a deep hypnosis. Then he suffers unnecessarily. Because unless you are centered in yourself, you can never be in bliss. That centering is bliss. Unless you are centered in yourself, you will never be independent. You will be a slave centered in something else, you will be a slave. You will be in bondage. Centered in something else, you will be dependent. Of course, you are bound to be dependent on something else. Your happiness, your unhappiness will be dependent to someone else. If you love me, or uh, if I love you, then my happiness will depend on you. How you behave, how you are. Only then I am happy. If you behave differently, if you are differently, then I am unhappy. Then I am not the master of my own happiness or unhappiness. You are the master. Then you can manipulate. And everyone is manipulating everyone else. And this whole world is just a manipulation the husband manipulating the wife, the wife manipulating the husband, the father manipulating the child, and the child manipulating the father the disciples manipulating the teacher and the teacher manipulating the disciples everyone and then everyone is unhappy because dependence is unhappiness how can you feel happy when you are dependent for it on someone else he is the master and he will be the deciding factor not you and the master needs sometimes to check again and again whether he still remains the master or not. So if if you are happy because of me, sometimes I will have to make you unhappy just to check whether still I am the master or not. So lovers go on checking each other, examining each other whether the master remains with me or it has gone that checking creates unhappiness and the more unhappiness is created the more longing for happiness the more longing for happiness the more dependence and then more unhappiness results it becomes a vicious circle and it goes on and on with no end in view there is no end really in hypnosis you can go on eternally it is an infinite process because once you have left your center, you can go